Thank you. से मुमुक्षते तद वही धर्म सुधिषद वसुरम परीक्षसत होता वेदिषद अतिथिर दुरोणसत नृषद वरसद ऋतसद व्योमसद अब्जा गोजा ऋतजा अग्रजा ऋतम बृहद ये रहा पूर्व ये है जन्म वाला ये जिसका है वो अजन्मा है तो जन्म वाला और मृत्यु वाला हुआ शरीर और जन्म मृत्यु से मुक्त हुआ इसका स्वामी ये शरीर हुआ वक्र हाँ। कभी पाप करे कभी पुण्य करे कभी सुखी हो कभी दुखी हो और इसका जो स्वामी है वो अवक्र चेता है सरल है क्यों का क्यों बैठ जाओ इस शरीर के पीछे अनुष्ठा न सोचती सारा शोक मिट गया विमुक्त विमुक्त है तुम पहले से ही विमुक्त हो मुक्त हो जाओ माने प्रातिभाषिक बंधन से भी भ्रांतिकृत बंधन से मुक्त हो जाओ तुम वस्तुता विमुक्त हो भ्रांतिकृत बंधन से मुक्त हो जाओ एक तक ये जो तुम्हारी आत्मा है यही परमात्मा है यही ब्रह्म है एक देखो तो प्रश्न उठाते हैं परमात्मा मुझसे बाहर है कि परमात्मा मेरे अंदर है ये जो अंदर और बाहर है ना ये देश है ये स्थान है अंदर एक स्थान है बाहर दूसरा स्थान है जो ये कहता है कि मेरे अंदर और मेरे बाहर उससे पूछो कि तुम्हारा मैं क्या है निश्चित रूप से जो अपने में अंदर और बाहर की कल्पना करता है वो अपने को शरीर मानता है उसका मैं शरीर है चांद के भीतर अंदर और चांद के बाहर बाहर और तुम माने हैं चांद में रखी हुई गंदगी की एक कोठली क्या होता है अंदर का अर्थ परमात्मा मेरे अंदर परमात्मा मेरे बाहर तो तुम कौन मैं क्या तो तुम चाम की पोटली शरीर चाम से घिरी हुई जगह को तुम अंदर बोलते हो और शाम से अनघिरी जगह को बाहर बोलते हो देह में मैं हुए बिना अंदर और बाहर का भेद ही नहीं हो सकता इसलिए जब देखो सनातन धर्म की रीति से ईश्वर की उपासना बाहर भी हो सकती है और अंदर भी हो सकती है क्यों बोले अंदर और बाहर भाव में है अंदर और बाहर देश है इस देश का दृष्टा चैतन्य आत्मा है और इस दृश्य का इस अंदर और बाहर का अधिष्ठान ब्रह्म है अना अनंत है अनंत अपरिच्छिन्न है तो अनुमान से यदि हम दृश्य के अधिष्ठान का चिंतन करें तो वो इतना बड़ा है कि परोक्ष रह जाएगा और यदि केवल हम दृश्य के दृष्टा होकर के भीतर बैठ जाएं तो परिच्छिता रह जाएगी तो वेदांत ये बताता है कि संपूर्ण दृश्य रज्जू में सर्प के समान जिस अधिष्ठान में कल्पित है वो तत् पदार्थ और इस दृश्य का जो दृष्टा है वो तम पदार्थ और क्योंकि दोनों ही निर्विशेष हैं इसलिए वैशिष्ट वैशिष्ट्याभावात यद अधिष्ठानम तद दृष्टि जो वही दृष्टा पद अधिष्ठान ये बात वेदांत के सिवाय बताने वाला और कोई नहीं है तो अंदर और बाहर अंदर का दृष्टा कल्पित है और बाहर का सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भी कल्पित है और इन दोनों की कल्पना का नारायण जो स्वयं प्रकाश अधिष्ठान है दृश्य और दृश्य पूर्व पूर्व और पूर्व की जातियां और पूर्व का भाव ये दोनों जिसमें फिर रहे हैं वो अनंत ब्रह्म सच्चिदानंद गण अपना आत्मा है आप ऐसा नहीं समझ लेना कि देह मुझसे न्यारा और मैं देह से न्यारा है ना ये न्यारे पने का नाम वेदांत नहीं है ये तो बुद्धि है ये तो विवेक है ये तो अंतकरण की एक वृत्ति है और इस विविध पदार्थ को हम किसी दूसरे प्रमाण से ब्रह्म नहीं जान सकते सिवाय वेदांत वाक्य के ये वेदांत की प्रामाणिकता है यही जाके है ना यही जाके सब यंत्र सब बाह्य विज्ञान बाह्यार्थ विज्ञान यही जाके समाप्त हो जाता है यही यंत्र समाप्त हो जाते हैं यही भेदभाव की समाप्ति हो जाती है तो यात्रा देवा मतवा धीरो हर्ष शोक भी ज्ञातवा देवम मुच्यते सर्वता वीर पुरुष जब इस परमात्मा को जानता है तब उसके सारे दुख बैठ जाते हैं उसके सारे शोक मिट जाते हैं शोक माने शोक से उपलक्षित काल शोक का अनुभव कालिक संबंध में होता है बोला कल कोई मर गया तो आज उसकी याद करके कहें कि हाय हाय अब यह पूरणीय क्षति हो गई अब इसके बिना कैसे चलेगा मैं तो दीन हो गया हीन हो गया ये जो मन में आता है ना किसी भी वस्तु के बिना व्यक्ति के बिना किसी राजा और किसी प्रजा के बिना अपने आप में जो दीनता का हीनता का आरोप है उसी को शोक कहते हैं अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा है ना ये शोक हो गया हो इसका नाम शोक तो ये शोक से उपलक्षित काल तो काल में जिसका जन्म हुआ काल में जिसकी स्थिति रही काल में जिसकी मृत्यु हो जाती है वो चाहे काल में सृष्टि काल में जो ब्रह्मा विष्णु महेश बनते हैं जो हिरण्य गर्भ है उत्पत्ति काल में ब्रह्मा स्थिति काल में विष्णु और संहार काल में रुद्र संज्ञा धारण करता है एक एक ब्रह्मांड में अलग और सब ब्रह्मांडों में अलग और उस हृदय गर्भ से संबद्ध जितने पदार्थ हैं और प्रकृति कभी अनुलोम परिणामिनी होती है कभी प्रतिलोम परिणामिनी होती है तो वो परिणामिनी प्रकृति और उस परिणाम के अनुकूल अनुकूल परिणाम के अनुकूल और प्रतिकूल परिणाम के अनुकूल जो अपनी शक्ति और अपनी चेतना को भेजने वाला है वो ईश्वर हाँ। इस अनंत अपरिच्छिन्न पर ब्रह्म परमात्मा में इस प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्व में इस स्व में केवल भान मात्र है अतएव पूर्वत एव विमुक्ता हाँ। पहले से ही जो मुक्त है वो जब ये जान लेता है कि मैं मैं ये शरीर नहीं हूँ मेरा ये शरीर नहीं है मैं शरीर में सीमित नहीं हूँ शरीर के साथ मेरा जन्म और मृत्यु नहीं होता है शरीर की लंबाई चौड़ाई मेरी लंबाई चौड़ाई नहीं है शरीर का वजन मेरा वजन नहीं है और इसी तरह जो सब शरीरों का समूह है समष्टि है उसका जन्म मरण भी मेरा जन्म मरण नहीं है उसकी स्थिति गति मति कृति मेरी नहीं है हाँ। और उसका प्रलय भी नहीं है मेरा प्रलय और बोले इसका जो अभाव है वो अभाव का मालूम करना और न मालूम करना ये मेरा स्वरूप नहीं है भान मात्र परम ब्रह्म संपूर्ण विश्व प्रपंच और उसकी अवान्तर भेद और उसकी समस्ती उसकी बीजावस्था उसका अभाव जिसमें विवर्त रूप से भाग रहा है एक शरीर नहीं जिसमें विवर्त रूप से भाग रहा है वो ब्रह्म है इसमें कोई ध्यानवान करने का नहीं है ये कोई योगाभ्यास नहीं है ये तो जैसे एक बात गया जलाई लाख दियासलाएं जलाई विमुक्त और अंधकार दूर हुआ ऐसे विमुक्त विमुच्यते तो अधूरा वेदांत सुनने से अज्ञान बढ़ता है बोला हाँ। तो देह देह मुझसे न्यारा मैं देह से न्यारा मैं देह से न्यारा एक चेतन मुझसे न्यारा देह नारा मुझसे न्यारा विश्व सृष्टि तो है नहीं मुझसे न्यारा देह कहाँ से आवेगा मुझसे न्यारा देश मुझसे न्यारा काल असल में भूत भविष्य वर्तमान इस त्रैविध्य से युक्त काल की कल्पना बहिरांग अंतरंग और अंतराल देश के त्रैविध्य से युक्त जो कल्पना और कार्य करण कारण के त्रैविध्य से युक्त जो कल्पना है उस कल्पना का भावाभाव दोनों केवल भान मात्र है और भान ही अपना स्वरूप है तो नारायण इसके विज्ञान से अभय की प्राप्ति होती है शोक का अवसर नहीं रहता है भय का दर्शन कहाँ हो कहते यह व अविद्याकृत काम कर्म बंधन विमुक्तो भवती आचार्य ने कहा यही व मानो स्वर्ग में जाके मुक्ति नहीं मिलती ये कोई कैलाश गोलोक साकेत वैकुंठ है ब्रह्मलोक हिरण्य गर्भ में जाके मुक्ति मिलती है सो तो नहीं यही मिलती है बोले यहाँ भी मरने के समय मिलती होगी ना ना मरने के समय नहीं तुम यहाँ मुक्त हो अविद्याकृत काम कर्म बंधन विमुक्तो भवती तुमने जो अपने अंदर काम का बंधन और कर्म का बंधन माना है तो देखो ऐसे कहते हैं एक आदमी अपने घर से निकलता है सीधे खींचा हुआ चौपाटी पर चला गया तो प्रश्न हुआ कि किसी ने हाथ पकड़ा नहीं कमर में रस्सी लगाई नहीं है? कौन उसको खींच के ले गया बोले वासना का बंधन बोले ये काम तो हमको करना है ये तो हमारा कर्तव्य है तो कौन ले गया वहाँ बोले मैं करता हूँ इस अभिमान के कारण जो कर्म के साथ अपना संबंध माना हुआ है ना वो कर्म ही बंधन है नरक में कौन ले गया बोले कर्म ले गया स्वर्ग में कौन ले गया का कर्म ले गया व्यभिचार अनाचार चोरी जारी के स्थान पर कौन ले गया का वासना ले गई गसीब कसीब के ले जाती है बोले तब तो वासना बड़ी जबरदस्त कर्म बड़ा जबरदस्त बोले नाना अविद्या कृत है अविद्याकृत का अर्थ आप समझे बिल्कुल सीधे जैसे कोई नशे में ये समझ ले कि हमारा फेंटा पकड़ के कोई खींचे लिए जा रहा है, हैं? नशे में कोई ऐसा समझे कि मैं तो मेस्मराइज हो गया हमको ये आदमी अपनी आंख पर लटकाए ले जा रहा है है ना ऐसे ऐसे हाथ कर देते हैं तो वो मेसमराइज हो जाना जैसे एक अपना भ्रम है वैसे कोई वासना कोई कर्म हमको खींच के कहीं ले जाते हैं ये ऐसे ही है जैसे लोग समझते हैं कि घड़ा घड़े में जो पोल है ना उसको घसीट के कहीं ले जाते हैं जब घड़ा जाता है तो घड़े के बीच की पोल जाती है क्या पोल तो नहीं जाती है लेकिन मालूम पड़ता है ना कि घड़े के साथ उसकी पोल भी जा रही है जैसे उसमें पानी जा रहा है वैसे पोल भी जा रहा है तो ये जो मालूम पड़ता है कि वासना रूप घड़ा या कर्म रूप घड़ा मुझ अनंत अनंत घन पर ब्रह्म परमात्मा को गति के लिए जा रहा है ये क्यों मालूम पड़ता है अविद्या के कारण मालूम पड़ता है अविद्या माने ये नहीं समझना हो है ना कि कोई लाल पीली काली अविद्या होती होगी अविद्या में वजन नहीं होता अविद्या लाल पीली काली नहीं होती तो रंग नहीं होता अविद्या में अच्छा लंबाई चौड़ाई होती होगी एक इंच की एक फुट की अविद्या होती होगी तो लंबाई चौड़ाई भी नहीं होती का अविद्या की उम्र होती होगी अविद्या की उम्र भी नहीं होती अविद्या में उम्र नहीं लंबाई नहीं चौड़ाई नहीं रंग नहीं रूप नहीं अच्छा तो अविद्या में वजन होता होगा है माने अविद्या न देश है न काल है न अविद्या देश है न अविद्या काल है न अविद्या द्रव्य है हे भगवान हाँ। हमको अपने बचपन की याद है एक साधुओं की सभा में बैठा था तो अविद्या की निरुक्ति पर चर्चा चल रही थी काशी देवी मठ में व्याकरणाचार्य स्वामी रामानंद जी उस समय महंत थे अब काम को मालूम नहीं है और मैं स्वामी योगानंद जी महाराज के साथ ही वहाँ बैठा था तो अविद्या की निरुक्ति हो रही थी कि अविद्या क्या है सद भिन्न सती असद भिन्न सती अनादिभाव रूपा ज्ञान निवर्त्या है ना ये सब निरुक्ति हो रहे थे वो अविद्या सत भी नहीं है असत भी नहीं है हैं अनादि भाव रूप है ज्ञान से निवर्त है ये सब चर्चा चल रहे थे तो मैंने स्वामी भागवतानंद जी से कहा कि अविद्या का अर्थ तो ये मालूम पड़ता है कि न विद्यते इसे जो विद्यमान न हो जो हो ही नहीं उसको अविद्या बोलते हैं विद्या विद्यते इसे विद्यते विद्यमान अविद्यमान अविद्या न विद्यते ऐसी अविद्या जो हो ही नहीं उसको अविद्या बोलता तो बोले कि ठहरो ठहरो शास्त्रार्थ होने दो है ना भ्रांत की दृष्टि में अविद्या सत्य है बोला और जिज्ञासु की दृष्टि में अविद्या अनिर्वचनीय है और तत्वविद की दृष्टि में अविद्या है ही नहीं है ना अविद्या की न किंचित सा का बुभुत्सा तथा पिते अष्टावक्र गीता में कहा कि अविद्या नाम की कोई चीज नहीं है तुम क्या समझना चाहते हो हैं? नासी दस्ती भविष्य पंचदशी में पंचदशी में कहा कि ना अविद्या थी ना है ना होगी नैष्कर्म सिद्धि में कहा कि विचारा सहिष्णुत्व जो है वो अविद्या का भूषण है अविद्या या अविद्यात्म इदमेव ही लक्षणम यद विचारा सहिष्णुत्व जब तक विवेक नहीं करोगे तब तक ये तुम्हारे दिमाग पर छाई रहेगी हाँ। और विचार एणा निवर्तते विचार करते ही हाँ, जैसे मसाल हाथ में लेकर जाते ही भूत भाग जाएगा मसाल के सामने भूत नहीं दिखता हो ठूठ में भूत दिखेगा लेकिन मसाल के सामने भूत नहीं दिखेगा इसी प्रकार जहाँ विवेक की मसाल विचार की मसाल जला करके और अविद्या को ढूंढने चले ये अविद्या नाम की चुड़ैल न कभी थी न है न होगी ये बिल्कुल वहम है तो इसीलिए नित्य निवृत्त की ही निवृत्ति होती है ज्ञान से जिसकी निवृत्ति होती है वो पहले से ही मौजूद नहीं होता हाँ। तो अज्ञान जो है अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती क्या होता है कि अज्ञान नहीं है ऐसा ज्ञान होता है अविद्या का बाद होता है वेदांत के शीर्ष ग्रंथों में है ना तो उच्च कोटि के वेदांत संबंधी ग्रंथ हैं उनमें ये बताया है कि ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती अज्ञान का भी बाध ही होता है रज्जु सर्पवा ब्रह्म में अविद्या कभी थी नहीं है नहीं होगी नहीं तो विमुक्त विमुचते जो पहले से मुक्त है वही मुक्त होता है हो तो ये जो हम मानते हैं अपने को वासना के अधीन है ना और कर्म कर्म हमको नरक में ले जाएगा कर्म हमको स्वर्ग में ले जाएगा जहाँ वासना होगी वहाँ हमको जाना पड़ेगा ये तो जैसे कोई आत्मसमर्पण कर दे ना है ना जैसे राजा जो है वो किसी बनावटी दुश्मन को देख करके और उसके आगे अपना आत्मसमर्पण कर दे अरे एक तलवार मारो तो उसके ऊपर वो तो बनावटी है है ही नहीं दुश्मन है ही नहीं तो विद्या अविद्याकृत है विमुक्तो भगवती विमुक्त सन विमुच्यते पुनः शरीरम न गृहणादी अर्थ तो जीवन काल में जो मुक्ति है असल में वही मुक्ति है और जो मरने के बाद मुक्ति है वो तो उधार मुक्ति है वो तो कल्पित मुक्ति है तो मुक्त हो तो अभिमुक्त हो किसी वासना के बस नहीं हो किसी कर्म के बस नहीं हो किसी भूत प्रेत के बस नहीं हो बोला किसी देवता दानी के बस नहीं हो किसी इतर पितर के बस में नहीं हो नारायण गोविंदाय तो ये मुक्ति के संबंध में जरा एक एक सज्जन ने कल कहा था पर वो आज आए नहीं है जीवन मुक्ति विदय मुक्ति आप किसी में ऐसा न समझें कि तत्व ज्ञानी का व्यवहार व्यवहार के रूप में अज्ञानी से कुछ विलक्षण होता है ऐसी कल्पना आप बिल्कुल नहीं करें नहीं मोक्ष दशायाम विज्ञानांतरम आनंदांतरम व उत्सव्यते भगवान भाष्यकार कहते हैं कि मोक्ष दशा में माने अविद्या का बाध हो जाने पर जीवन काल में विज्ञानी के अंदर कोई नया विज्ञान कोई नई चमक चमक कोई नया आनंद उत्पन्न होता होगा बोले नाना ऐसी कल्पना नहीं करना वो ऐसी रहता है जैसे सब रहते हैं तो एक बार मैंने उड़िया बाबा जी महाराज से पूछा कि महाराज ज्ञान होने पर मस्ती तो आ जाती होगी ना तो बोले कि मस्ती तो जीव धर्म है है ना मस्ती जीव धर्म है मस्ती ब्रह्म धर्म नहीं है बोला जीव में ही वैराग्य होगा तो मस्ती रहेगी बोला राग होगा तो मस्ती नहीं होगी ये राग वैराग्य जीव धर्म है रे हाँ ये ब्रह्म नहीं है है ना मस्ती हो तो क्या हुआ और मस्ती न हो तो क्या हुआ ब्रह्म पर इसका कोई असर नहीं पड़ता ये बड़ा विलक्षण है तो इसका आपको यदि स्वतंत्रता से विचार करना हो तो वेदांत दर्शन के तदधिगमाधिकरण का विचार करना चाहिए चौथे अध्याय में वेदांत दर्शन के चतुर्थ अध्याय में एक तदधिगमाधिकरण है तत् माने ब्रह्म परमात्मा उसका अधिगम माने अनुभव साक्षात्कार हो जाने पर हाँ, क्या होता है तदधिगमे उत्तर पूर्वाघयो अश्लेष विनाश तद व्यपदेशात इतर से असश्लेष पाते तो न जरा गौर से आप देखेंगे तो मालूम पड़ेगा हम तो केवल पहले उसका अभिप्राय बता देते हैं परमात्मा का अधिगम हो जाने पर तद अधिगमे उत्तराघस्य अश्लेष पूर्वाघस्य विनाश तद व्यपदेशा तत्व ज्ञान हो जाने पर उत्तरकालीन जो पाप हैं उनका संश्लेष नहीं होता और पूर्वकालीन जो पाप हैं उनका विनाश हो जाता है जरा इसके भीतर घुसो ये ये नहीं कहते हैं कि सब पाप का विनाश हो जाने पर तत्व ज्ञान होता है ये बात नहीं कही गई वकील वकील लोग होंगे तो वाक्यार्थ को पकड़ेंगे ना ये कहते हैं परमात्मा का साक्षात्कार होने पर पहले के किए हुए पापों का विनाश हो जाता है इसका अर्थ ये हुआ कि मन आपने धर्म से धोया विक्षेप है ना आपने जोग से दूर किया वासना आपने उपासना से मिटाई सब ठीक लेकिन जिस आवरण के कारण वासना होती है जिस आवरण के कारण विक्षेप होता है जिस आवरण के कारण मल होता है वो आवरण तो अभी मिट ही नहीं है <clears throat> तो वो तत्व ज्ञान से मिटता है मतलब ये हुआ कि अंतकरण में जो तीन दोष हैं मल विक्षेप आवरण उनमें से आवरण रूप दोष की निवृत्ति तत्व ज्ञान होने के साथ होती है तो जब तत्व ज्ञान से आवरण का नाश होगा तब मन और विक्षेप का भी नाश हो जाएगा एक बात तो ये कही और दूसरे पर जरा ध्यान दो वो तो और विलक्षण है वो कह रहे कहते हैं उत्तराघ का असंश्लेष हो जाता है हे भगवान बोले ज्ञान के उत्तर काल में जो कर्म होगा पाप पुण्य वो ज्ञानी को लगेगा नहीं इसका मतलब ये है कि दुनिया की दृष्टि में जो पाप पूर्ण कर्म हैं वे उसके जावत जीवन होते रहेंगे ज्ञानी होने का मतलब आंख बंद होना नहीं ज्ञानी होने का मतलब मुंह बंद होना नहीं ज्ञानी होने का मतलब कलेजा बंद होना धड़कन बंद होना नहीं है ज्ञानी का होने का मतलब दिमाग फेल होना नहीं ज्ञानी होने के बाद कर्म तो होंगे अच्छे बुरे दोनों होंगे परंतु वे उसको लगेंगे नहीं यह अघ शब्द का प्रयोग है मूल सूत्र में और श्रुति में है नैवम विधि पापम कर्म श्लेष्यते सद जथा पुष्कर पलाते आपो न श्लेष्यंत जैसे कमल के पत्ते में जल का स्पर्श नहीं होता इसी प्रकार तत्वज्ञ पुरुष में कर्म का स्पर्श कर्म का स्पर्श नहीं होता देश नित्यो महिमा ब्राह्मण न कर्मणा वर्धते नो करिया यही तो ज्ञान की महिमा है तब ज्ञानी कैसे रहेगा बोले जक्षण क्रीडन रममाणा वो खेलेगा वो खाएगा वो विहार करेगा वो विमान पर चलेगा रुवा वयस्क स्त्री भी वा रुवा वयस्क रुवा न रहे वो स्त्रियों में रहेगा वो अपने हमजोलियों में रहेगा वो विमानों पर चलेगा लेकिन तो <clears throat> उसको कर्म का श्लेष नहीं होगा विमुच्यते का अभिप्राय विमुच्यते का अभिप्राय देखो तो उसकी मुक्ति कैसी है तो करता हुआ भी कर्म के फल पाप और पुण्य से श्लिष्ट नहीं है अदृष्ट की उत्पत्ति नहीं होती उसको नरक स्वर्ग पुनर्जन्म ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति नहीं होती और कहो कि वो बिल्कुल बैठा हो कि नहीं बैठा नहीं हो अन्वय व्यतिरेक से विचार करके ये कर्म करने से हित है और ये कर्म करने से अहित है जहाँ जहाँ ये कर्म कर किया जाता है वहाँ लोक में अहित होता है और जहाँ ये ये कर्म किया जाता है वहाँ लोक में हित होता है हितान्वयी जो कर्म है वो करता है और अहितान्वयी जो कर्म है उसका परित्याग करता है तत्व ज्ञानी माने अंधा नहीं बहरा नहीं गूंगा नहीं तो विमुक्त विमुचत है स्वयं पहले से मुक्त है और उसकी मुक्ति होती है एक सात अब बोले कि अच्छा हम एक ही शरीर के एक शरीर में चेतन है बोले नहीं ये सात ये जो एक शरीर में चेतन है वही सर्व शरीर का चेतन है देखो हम हम अपने को मैं बोलते हैं ना इस शरीर में मैं का प्रयोग करते हैं मैं और सामने वाले को तुम बोलते हैं तो इसका नाम हुआ मैं और सामने वाले का नाम हुआ तुम लेकिन जब तुम इसी तरह से बोलो तो तुम्हारा नाम हुआ मैं और मेरा नाम हो गया तुम अब बताओ हम बताओ कि हमारा नाम तुम है कि तुम्हारा नाम तुम है, है? हमारा नाम मैं है कि तुम्हारा नाम मैं है ये सर्वनाम जो शब्द होते हैं ना मैं सर्वनाम शब्द है हो माने सब लोग मैं शब्द का प्रयोग करने में स्वतंत्र हैं और सब लोग तुम शब्द का प्रयोग करने में स्वतंत्र हैं तो सबके लिए तुम है और सबके लिए मैं है इसका मतलब क्या हुआ जो तुम है तो मैं है जो मैं है तो तुम है मैं और तुम शब्दों का अर्थ जो है वो न्यारा न्यारा नहीं होता तो सतु नैक शरीर पुरवर्ती एवं आत्मा किम ही सर्व पुरवर्ती ये जो आत्मा है ये एक शरीर में रहने वाला नहीं है केवल एक शरीर में व्यवहार कर रहा हो है ना बोले कि ये एक सदेश राम जिग्रते लिया करो तीज जिससे हम सुनते हैं जिससे स्वाद लेते हैं जिससे देखते हैं जिससे छूते हैं जिससे सुनते हैं जिससे मनन करते हैं हाँ, वो मैं आत्मा प्रज्ञान बोले अरे भाई एक शरीर में नहीं सब शरीर में हाँ, सब शरीर में <coughs> तो वो कैसे अरे हंस सुचिषद अंतरिक्ष सद होता वेदिषद आतिथिर दुरोणसात नृसाद वारासाद व्योम व्योमसाद अब्जा गोजा ऋतजा द्रजा ऋताम्रिहात ये मंत्र ऋग्वेद में तीसरे मंडल में आता है तो वहाँ सूर्य की स्तुति में इस मंत्र का विनियोग हुआ है मान वेदों के अर्थ का की कई परंपरा होती है वो एक याज्ञिक परंपरा होती है तो सब मंत्रों को यज्ञ में बोला जाना चाहिए है ना एक इनकी जो परंपरा है की जो परंपरा है वो सात प्रकार की परंपरा है निरुक्त में यज्ञ परक दैव परक और आत्म परक आध्यात्मिक आधिदैविक और आधिभौतिक तीन तीन अर्थ प्रत्येक मंत्र के यज्ञ याज्ञ दैव और आत्मा तीनों प्रकार के अर्थ मंत्रों के होते हैं एक एक मंत्र के तीन तीन अर्थ तो नारायण ये तो सूर्य का वर्णन है बोले हाँ सूर्य माने आत्मा होता है अब देखो एक बात आपको बता रहे यदि आप लोग संध्या बंदन करते होंगे तो झट ये बात समझ में आ जाएगी और नहीं करते होंगे तो मंत्र तो याद ही नहीं होगा सूर्य आत्मा जगत तत्पुष्च जब अर्घ दान करते हैं ना सूर्य को जब अर्घ देते हैं तब ये मंत्र पढ़ते हो उदुत्यञ्जातवेदसाम् चित्रम वहन्त केतवः चित्रम् देवानामुदगादनीकाम् तो ये सब संध्या वंदन की पर उसमें सृष्टि क्रम भी वर्णन है, हरितंच सत्यंच अविद्वा जायत ये सृष्टि क्रम का वर्णन है और जो शरीर में है सोई सृष्टि में है ये सवितुर्वरेण्यम भर्गो से अभिमयी धियो यो न प्रचोदया जो हमारी बुद्धि का प्रेरक है वही सृष्टि का करता है माने अल्पज्ञोपलक्षित और कलक्षित है ना जो चैतन्य है तो एक ही है वो गायत्री में अद्वैत भाव का बनना और आत्मा का निरूपण है सूर्य के रूप में तो अब आजकल तो नारायण झाड़े झंखाड़ रहना पसंद है है ना सौरा हुआ सजा हुआ बगीचा फूल बनना है ना वो तो पसंद नहीं है तो ये जो सूर्य आत्मा जगत स्थु सच्चा जगत माने जंगम से और तस्थुषा माने स्थावर से जो स्थावर और जंगम प्राणी हैं माने पेड़ पौधा से लेकर के ब्रह्मा विष्णु महेश तक जो स्थावर और जंगम प्राणी हैं उनमें आत्मा जो है उसी का नाम सूर्य हो तो ब्राह्मण में सूर्य की व्याख्या है पौरोहित जागृत परंपरा से और आध्यात्मिक उपनिषद में आध्यात्मिक व्याख्या है उसकी तो शंकराचार्य भगवान ने आध्यात्मिक परंपरा से उसकी व्याख्या की है किए अंत में भाष्य के व्यादित्य एवं मंत्रेण उच्यते तदापि अस्य आत्मस्वरूप आदित्य अंगीकृतवाद ब्राह्मण व्याख्यान व्यतिरोध बोले कि भी मंत्र में आदित्य का वर्णन है फिर भी यहाँ उपनिषद में जो व्याख्या की जा रही है इसके साथ उसका कोई विरोध नहीं है अब आओ जरा इसके अर्थ पर विचार कर ये आत्मदेव कैसे हैं हंस ये हंस है तो हंस शब्द का अर्थ एक तो होता है उज्जवल है ना एकदम निर्मल मैल क्या चीज है जो अपने अंदर दूसरी चीज लग जाती है उसी को मैल बोलते हैं तो हंस निर्मल है उज्जवल है माने द्वैत के संबंध से गंध से रहित है हंस का अर्थ है हंति द्वैताम इति हंसा हंस इति हंसा जो द्वैत का हनन करे माने जो बिल्कुल अद्वैत रूप होवे उसको हंस कहते हैं आप जानते हैं ना महात्माओं को भी तो हंस परमहंस बोलते हैं ना हंस परमहंस हंसा ज्ञान स्वरूप है निर्मल है जब वेद मंत्र में आता है ना अहम सह सोहम सो हम हंसा उसी को तो दोहराते हैं जो सावसव आदित्य पुरुष जो आदित्य में पुरुष है बोले तो अहम सहा मैं वही हूँ अहंस एवं हंस स्थित है उसी परोक्षे न परोक्ष प्रिया वही देवा महात्मा लोग कुछ छिपा करके थोड़ा कि अनधिकारी लोग जो हैं दुरुपयोग नहीं करें तो बोलते हंस हंस माने हंसी गच्छति व्यापनोती वेद में हन धातु जो है वो हिंसा और गति दोनों अर्थ में प्रयुक्त होता है हन हिंसा गत्य हो तो हंसी द्वैतम और हंसी गच्छति व्यापनोते जो वस्तु के रूप को आकार को गुण के को धर्म को स्वभाव को चूर चूर करके और सर्वत्र विद्यमान है उसका नाम हंस तुम हंस हो मानस सरोवर के निवासी हंस तुम हो हंस बोले हंस क्यों कहते हो ये सूर्य है ना सूर्य तो देखो अब उस दृष्टांत में एक बात और जुड़ गई हंस उसको कहते हैं जैसे सूर्य रात्रि और दिन का विभाग करता हुआ आकाश में चलता रहता है इसलिए उसको चलने वाला होने के कारण हंस बोलते हैं हंस की चाल बड़ी कायदे की होती है वो ये जो हंस पक्षी होता है ना स्त्री स्त्री की चाल की तारीफ करना होता है तो उसको हंसगामिनी बोलते हैं हंसगामिनी तो हंस जो है वो बिल्कुल कायदे से अपना पांव धरती पर रखता है तो सूर्य जो है वो ऐसे क्रम से चलता है हो कि देखो वो किस जनवरी में जब संक्रांति होती है ना मकर संक्रांति को कौन तेरह चौदह जनवरी को होती है ना है चौदह जनवरी को आ देखो वो ऐसे कायदे से चलता है कि चौदह जनवरी को है ना चौदह जनवरी को ही वो मकर राशि में पांव रखे तो कायदे से न चले तो ऐसा कैसे हो तो प्रशस्त प्रशस्त गति है अब देखो और सूर्य तो चलता ही नहीं चलती तो पृथ्वी है अरे तो बड़ा मजा आया बहुत बहुत मजेदार बात हो गई ये हमारा जो ज्योतिष है ना प्राचीन काल का उसमें तीन सिद्धांत हैं एक आर्य सिद्धांत और एक ब्रह्म सिद्धांत और एक वशिष्ठ सिद्धांत तो सूर्य सिद्धांत सूर्य सिद्धांत सूर्य सिद्धांत आर्य सिद्धांत ब्रह्म सिद्धांत तो ब्रह्म सिद्धांत जो है ना ज्योतिष का वो सूरज को स्थिर और पृथ्वी को गतिशील मान करके सारा गणित करता है और ब्रह्म सिद्धांत उसको बोलता है और सूर्य सिद्धांत और आर्य सिद्धांत जो है वो सूरज को गतिशील और पृथ्वी को स्थिर मान करके सब गणित निकालते हैं और बिल्कुल दिन रात ग्रहण है ना और राशि राशि सब बिल्कुल ज्यो का त्यों आता है तो अब देखो ये बात हुई कि देखो सूर्य चलता नहीं है यथा गगन खन पटल निहारी झम्प्यू भानु कहीं अभिचारी निरख लोचन अंगुली लाए प्रगट जुगल शशि तिन कह भाए उमा राम विषय का समोहा नभ तम धूम धूरी दिन सुहा चलती है धरती धरती पर बैठे हुए घूमते हैं हम हम लोग और मालूम पड़ता है कि सूर्य चल रहा है नौका रूढ़ चलत जग देखा अचल आप कहा भ्रम लेखा नाव पर आदमी जब चलता है तो उसको मालूम पड़ता है दोनों किनारे चल रहे हैं और हम नाव पर बैठे हुए हैं तो ये आकाश के महासमुद्र में आकाश के महासमुद्र में हम लोग पृथ्वी की नाव पर बैठे हुए हैं है ना और मालूम पड़ता है सूर्य चल रहा है इसका अभिप्राय ये हुआ कि ये जो देह है इंद्रियां हैं मन है अंतकरण है बुद्धिवृत्ति है इस पर हम बैठे हुए हैं हो तो चलती तो है ये और मालूम ये पड़ता है कि आत्मा चल रहा है ब्रह्म चल रहा है है ना तो ये कैसा है हंस का हंस ऐसा है कि स्वयं तो चलता नहीं है लेकिन चलता हुआ भागता है इसमें गति रति मति है ना ये सब नहीं है इसमें कृति धृति श्रुति तो नहीं है हाँ, परंतु मालूम पड़ते हैं इसलिए इसको हंस बोलते हैं तो पर एक इसकी ये विशेषता है देखो क्या बढ़िया बात सुनाते हैं सूची शब्द जैसे सूरज देखो कहाँ बैठता है सूची देवी पवित्र दिवलोक में जैसे सूर्य रहता है सुचऊ दिवी आदित्यात्मना सीदति इति सूची शब्द सूची माने पवित्र परम पवित्र ये जो पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप आत्मा है ये कहाँ रहता है बोले सूची सूची माने ये जो गड़बड़ झाला मिला दिया है ना अपने मन में सब एक आदमी ऐसा सोचता है कि हम शराब भी देखें और परमात्मा को भी देखें मांस को भी देखें परमात्मा को भी देखें हड्डी मांस को भी देखें परमात्मा को भी देखें है ना जुआ भी देखें व्यभिचार भी देखें और परमात्मा को भी देखें तो जब आदमी गंदी चीज पर अपनी नजर लगा देता है तो परमात्मा का दर्शन है ना प्रतिबद्ध हो जाता है वो रहता है परमात्मा रहता है बोला परमात्मा रहता है लेकिन जैसे कोई आंख को कपड़े से बांध दे तो सामने चीज रहते हुए भी तो नहीं दिखती है ना इसी प्रकार अंतकरण जब परिच्छिन्न पदार्थों के चक्कर में पड़ जाता है हाँ, सूची असूचि में जब हम रचपट जाते हैं हाँ, असूचि क्या है एक वेदांत के ग्रंथ में विचार किया हुआ है कि अर्थ असुचि होता है कि शब्द असुचि होता है <laughs> मान वस्तु अपवित्र होती है कि शब्द अपवित्र होता है बोले न वस्तु अपवित्र होती है न शब्द अपवित्र होता है तब अपवित्र क्या होता है कि जो उस शब्द में और उस अर्थ में अपवित्र भावना जोड़ने वाला अंतकरण है वो अंतकरण ही अपवित्र होता है अर्थ कभी अपवित्र नहीं होता मिट्टी पानी आग ये कभी अपवित्र नहीं होते है ना और आकार उकार मकार जो है ना अ आ ई ग ख ग घ ये वर्ण समामनाएं कभी अशुद्ध नहीं होते इन वर्णों से बनी हुई जो पद राशि है पद समुदाय है ना पद भी कभी अशुद्ध नहीं होते पद से बने हुए जो वाक्य हैं वो वाक्य भी कभी अशुद्ध नहीं होते असत्य वो क्या होता है बोले उसमें जो भाव जो हमारे मन से है ना कि मन गंदा हो तो अक्षर भी गंदा लगे है ना और शब्द भी गंदा लगे और वाक्य भी गंदा लगे और मन गंदा न हो हाँ, तो शब्द अर्थ वाक्य कोई गंदा नहीं लगे तो गंदगी कहाँ है तो हम अपने मन में गंदगी बना करके शब्द में जोड़ते हैं अर्थ में जोड़ते हैं वाक्य में जोड़ते हैं हाँ। आप लोग ऐसा नहीं समझना कि वेदांत के ग्रंथ कोई आमूली मामूली चीज का विचार करते हैं हो बोला हाँ श्रीमद भागवत ने इस श्लोक को ऐसा बढ़िया लिया है हंसा यतस्मयी शुचि सद मने नमः मैं उस हंस को नमस्कार करता हूँ जो सूची सदम में रहता है सूची सद सूची सदमा मैं उस हंस को नमस्कार करता हूँ माने परमात्मा तो सब जगह है लेकिन प्रगट कहाँ होता है, है? शुद्ध हृदय में इसका अभिप्राय हुआ शुद्ध हृदय में शुद्ध हृदय में क्या है ना मिट्टी है तुम्हारे हृदय में तो अशुद्धि नहीं है बना है ना और राम राम श्याम श्याम है तुम्हारे हृदय में तो अशुद्धि नहीं है लेकिन मन में है ना जब तुम चैतन्य को जड़ है ना आनंद को दुख आत्मा को अनात्मा परम पवित्र को अपवित्र अहंता और ममता से है ना लपेट देते हो जब अपने व्यवहार को अहंता ममता मोह की गंदगी से जब लपेट देते हो तब वो गंदा हो जाता है तो परमात्मा कहाँ निवास करता है का सूची में शुचि में पवित्र में देवी में सुचिता वसु वसुर वासयति थे ईसावास मदम सर्वम उसने तुमको बसा रखा है अपने में तुम उसको बसा लो अपने में उसने अपने में तुमको बसा रखा है तो तुमको मालूम नहीं है देखो कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे हैं ना अपनी माँ बाप के गोद में बैठते हैं लेकिन उस सामने वाली चीज को देखने में इतने तन्मय हो जाते हैं कि हम अपने माँ बाप की गोद में बैठे हैं ये मालूम नहीं पड़ता है तो ये जो हमारा अहम है ना ये बच्चा अहम हो है ना परिच्छिन्न अहम सीमित अहम ये जो है वो अपरिच्छिन्न की गोद में बैठा हुआ है लेकिन अपरिच्छिन्न को भूल गया है ये परिच्छिन्न परिच्छिन्न में तरमय हो गया है यही तो गंदगी है तो फिर क्या करना पड़ेगा कहे परिच्छिन्न तुम अपरिच्छिन्न को अपनी गोद में बताओ दोनों एक ही है ना तो चाहे वो इसको अपनी गोद में ले और चाहे ये उसको अपनी गोद में ले गोद में लेना देना तो कल्पित है परंतु वही साधक है तो तेजा वसु इसीलिए उसको वसु कहते हैं सबको ढके हुए है वस्ते आच्छादय भी सब उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है वासयती सबका अधिष्ठान वही है और वसु वसु होने से क्या है तो वायुवात्मना अंतरिक्ष जीदती बोले वही वायु प्राण है वो एक देखो हम तुम सब अलग अलग मालूम पड़ते हैं ना कब जब मिट्टी के धोदे हैं बोला तो हमारे बाबा जो है ना वो उनको गाली देने का अभ्यास <laughs> नहीं था वो <laughs> पुराने आदमी तो जब बहुत नाराज होते पितामह है ना वो तो बोलते हैं कि माटी का अपना लोधा है लोधा जैसे बोलते हैं ना है ना अकल नहीं इसका अब इसका मतलब हुआ अकल नहीं है है ना माटी का माटी का धोधा है और बहुत बहुत नाराज हुए तो बोले घूंगा बसंत है <laughs> ये गाली देहात की है ना गाली है गाली ये घूंगा है ना घोंगा इस शरीर का नाम घूंगा है बोला इसमें जो बस गया तो घूंगा बसंत हो गया है ना तो असल में जब आदमी इस शरीर को मैं समझता है है ना इस शरीर को जब मैं समझता है तब ये समझता है कि हम सब अलग अलग हैं तो बोले क्या समझें बोले तुम अपने को प्राण समझो मैं श्वास हूँ श्वासोच्छ्वास ये श्वास जब शरीर में रहे तब मैं हूं और शरीर नहीं रहे तो है ना जीव निकल गया श्वास के साथ जीव का अस्तित्व मानते हैं कि नहीं तो तुम ये देखो कि मैं प्राण हूँ वसु हूँ तो सबकी नाक में एक ही प्राण आता जाता है कि अलग अलग है अरे एक ही तो वायु है है ना हम सबकी सांस एक है वो हम सब एक प्राण एक प्राण द्वय देही देखने में ये शरीर जैसे सपने में अलग अलग होते हैं सपने में कितने शरीर होते हैं कुंभ का मेला लग जाए तो हजार शरीर सपने में होगा कि नहीं नासिक का कुंभ लगेगा उज्जैन का कुंभ लगेगा प्रयाग का लगेगा हरिद्वार का लगेगा तो और वो कहीं मन में लग जाए सपने में लग जाए तो हजार हजार आदमी होंगे कि नहीं अच्छा उन हजारों आदमियों की सांस एक है कि नहीं उन हजारों आदमियों का मन एक है कि नहीं भले आपस में लड़ते हुए लड़ाई का सपना आवे तब भी एक ही मन दो रूप धारण करके लड़ रहा है इसी प्रकार हम सब कितने भी अलग अलग हुए लेकिन हमारे अंदर एक ही प्राण इस प्राण को क्या पता है कि हम हिंदू की नाक के घुस में घुस रहे हैं कि मुसलमान के हाँ, इस प्राण को क्या पता है कि हम ईसाई की नाक में घुस रहे हैं कि पारसी के इस प्राण को क्या मालूम है कि हम जैन की नाक में हैं कि बौद्ध के हैं किसी को प्राणों का अपना बोलते हैं हो हाँ, अपने को अपने को हड्डी मांस चाम नहीं हाँ। अपने को हड्डी मांस चाम में रख के अलग मत देखो अपने को सांस के साथ मिला के देखो बसु ये कौन है ब्राह्मण माटी के साथ पानी के साथ अग्नि के साथ है ना वायु के साथ आकाश के साथ है ना विज्ञान के साथ महत्व के साथ अहंकृति के साथ प्रकृति के साथ और ब्रह्म परमात्मा के साथ अपने आप को मिला के देखो है नारायण तुम्हारे सिवाय और कौन है अच्छा तो फिर सुना